भाष्य सर्वसार उपनिषद पाकसान Sarvasar Upanishad Jagannath meditation camp Matheran India discourse number seven जब आत्मा शब्द आदि विषयों का विचार करती है तब उसे मनोमय कोष कहते हैं आत्मा इन तीनों कोषों के साथ संयुक्त होकर बुद्धि के द्वारा जो कुछ जानती है उसके उस बुद्धिमय स्वरूप को विज्ञानमय कोश कहा जाता है इन चार कोशों के साथ आत्मा बरगद के बीज में वृक्ष की तरह अपने कारण स्वरूप अज्ञान में रहती है उसे आनंद में कोश कहते हैं पहला शरीर है स्थूल भौतिक अन्य में दूसरा शरीर है प्राण में ऊर्जा शरीर इन दो की बात की ऊर्जा शरीर को प्राणमय कोष को जो शुद्ध कर ले वही तीसरे शरीर के साथ जागृत हो पाता है वायु से निर्मित होता है दूसरा शरीर तीसरा शरीर निर्मित होता है विचार की तरफ विचार भी भोजन है विचार भी विचार भी ने कहा है तुम जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाओगे या तुम जैसे हो गए तुम्हारे तो सोचने का ही परिणाम मन तक ये बात सही है मनो में कोष तक ये बात सही है और बुद्ध का ये वक्तव्य सही है क्योंकि जिनसे उन्होंने कहा होगा उन्हें मन के पार का और कुछ भी पता नहीं लेकिन विचार को कभी हम भोजन की तरह नहीं समझते विचार भी भोजन और विचार भी भीतर प्रवेश कर एक देह का निर्माण करता है इसे थोड़ा समझेंगे तो ख्याल में आ जाएगा कलकत्ता में 1900 में एक बच्चा खो गया कोई सात वर्ष बाद पता चला कि वो बच्चा जंगल में है और एक शिकारी एक भेड़िया उस बच्चे को उठा कर बहुत कोशिश की गई उस बच्चे को आदमी बनाने की बहुत मुश्किल हुआ वो चार हाथ पैर से चलता था जिससे भेड़िए चलते हैं आवाज करता था जिससे भेड़िए करते हैं भेड़िए जैसा ही खूखार भी हो गया था उतनी ही तेजी दौड़ भी दे देता था लेकिन वीर के बल खड़ा करने उसे मुश्किल गया मन उसका विकसित ही न हुआ था क्योंकि मन को कोई भोजन न मिला था बहुत चेष्टा में वो बच्चा मर गया ऐसा तीन चार बार हुआ अभी कोई दस वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में फिर एक बच्चा चौदह वर्ष का भेड़ियों से वापस लाया गया चौदह वर्ष तो काफी उम्र है लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल सकता था और छह महीने कोशिश करके सिर्फ उसे उसका नाम बोलना सिखाया था राम उसका नाम रख लिया था राम तो उसे छह महीने कोशिश करके सिर्फ इतनी आवाज सिखाई जा सकी वो बच्चा भी मर गया स्वस्थ लाते हैं लेकिन वो बच्चा भी सारा इंतजाम करके भी जिंदा नहीं रखा जा सका क्योंकि अब मन को पैदा करना उसे इतना दुष्कर हुआ और आदमी बनना इतना कठिन मालूम हुआ क्योंकि मनोमय कोष ही विकसित नहीं हो पाया आप एक भाषा बोलते हैं वो भोजन है जो आपको बचपन से दिया गया दूसरे घर में बड़े होते दूसरी भाषा बोलते गहरी परत बन जाती है मेरे एक मित्र जर्मनी में बीस वर्ष तक बहुत कम उम्र में भारत से चले गए उनकी मातृभाषा मराठी है वो भूल गए बीस वर्ष जर्मन बोलते बोलते उन्हें मराठी का कोई ख्याल ही नहीं रहा पढ़ भी नहीं सकते बोल भी नहीं सकते समझ भी नहीं सकते फिर अचानक एक दुर्घटना हुई और वो बीमार पड़े उनके भाई यहां से जर्मनी गए जिस अस्पताल में उनको भर्ती किया था उस अस्पताल के लोगों ने प्रार्थना की उनके भाई को कि आप रुक जाएं वैसे अस्पताल का नियम नहीं कि कोई यहाँ रुके रात लेकिन आपको रुकना ही पड़ेगा क्योंकि जब भी तुम्हारे भाई बेहोशी में बोलते हैं तो पता नहीं किस भाषा में बोलते हैं जब होश में बोलते हैं तब तो जर्मन में बोलते हैं भाई चकित हुए जब वो उनका भाई बेहोशी में बोलता था तो मराठी में बोलता था होश में मराठी समझ नहीं आती थी बेहोशी में मराठी ही बोलता था जर्मन नहीं बोल सकता था बेहोशी में जर्मन समझ भी नहीं सकता था मनोमय कोष की पहली परत जिस भोजन से बनी है वो गहरा है इसलिए आदमी कितनी ही कोई दूसरी भाषा सीख ले कभी भी ठीक मातृभाषा की गहराई उपलब्ध नहीं हो पाती असंभव है कोई उपाय नहीं क्योंकि जो परत पहली बन गई है मनोमय कोष में तो अब वो पहली ही रहेगी अब सब परतें उसके बाद ही निर्मित होंगी भाषा है शब्द है विचार है इनसे एक देह हमारे भीतर निर्मित होती है जितना सुसंस्कृत और सुशिक्षित व्यक्ति होता है उतनी बड़ी मनोमय देह होती लेकिन ये देह भी देह की तरह हमें दिखाई नहीं पड़ती और इसलिए हम बिना फिक्र किए कुछ भी में कोष में डाले चले जाते हैं एक आदमी सुबह से अखबार पढ़ रहा है उसे ख्याल भी नहीं हो सकता कि ये अखबार भी उसकी मनोमय देह का निर्माण करेगा रास्ते पे चल के दीवानों पर लगे पोस्टर पढ़ रहा है उसे ख्याल नहीं हो सकता कि ये जो शब्द उसके भीतर जा रहे हैं ये भी उसका मन निर्मित कर रहे हैं हम अपने मन के निर्माण में इतने असावधान हैं इसलिए हमारी जिंदगी एक उपद्रव है अगर इतनी ही असावधानी हम शरीर के निर्माण में भी बरते तो शरीर भी एक उपद्रव हो जाए हम कंकड़ पत्थर नहीं खाते लेकिन जहां मन का सवाल है हम कंकड़ पत्थर से भी व्यर्थ की चीजें खाते हैं हमारे मन को निर्मित करती है जाने अनजाने हमारे मन में जो भी प्रवेश कर जाता है वो उसका हिस्सा हो जाता है लेकिन हमें इसका बोध ही नहीं है कि मनोकाया प्रतिपल निर्मित होती रहती है जो सुनते हैं जो पढ़ते हैं जो सोचते हैं जो भी शब्द भीतर गुंजरित हो जाता है वो सब मनो में कोष को निर्मित करता है अगर आपसे आपका पड़ोसी कुछ भी कह रहा है तो आप कभी उससे ये नहीं कहते कि इस व्यर्थ को मेरे भीतर मत डालो हालांकि आपको ख्याल में हो या न हो डाल लेना आसान है निकालना बहुत मुश्किल है अगर मैंने एक शब्द आपके भीतर डाल दिया तो उसे निकालना अब इतना आसान नहीं कोशिश करके देखें तो पता चल जाएगा मैं आपसे कह देता हूं राम है रात भर इसे निकालने की कोशिश करके देख लें आप ना निकाल पाएंगे बल्कि ये और गहरा होकर भीतर बैठ जाए क्योंकि जितना निकालने की कोशिश करेंगे उतना ही इसे याद करना पड़ेगा जिसे हम बुलाना चाहते हैं उसे बुलाने के लिए भी तो याद करना पड़ता है और हर बार याद करके हम उसे और मजबूत किए चले जाते हैं इसलिए तो इस दुनिया में जब किसी को कोई बुलाना चाहता है तो बुलाना असंभव हो जाता है कोई भूल जाए बात अलग भुलाना बहुत मुश्किल है और जो भूल जाता है वो भी केवल ऊपर ऊपर से भूल गया है भीतर से मिटता नहीं चित्त कुछ भी खोता नहीं चित्त बहुत संग्राहक है ये मनो में कोष बहुत सूक्ष्म संग्रह करती चली जाती है ये जन्मों जन्मों तक जो भी इसने विचार की तरंग की तरह पाया है इकट्ठा कर लिया है इस देह को ठीक से समझ लेना जरूरी है तो ही इसके पार जाया जा सकता है इधर दो बातें और ख्याल ले लेनी जरूरी है पहले मैंने आपसे कहा स्थूल देह है शरीर हमारी भौतिक काया बीच में दोनों के है वाइटल बॉडी प्राण शरीर और पीछे है मन शरीर मन और शरीर के बीच में जो सेतु है वो प्राण काया का है इन दोनों को जोड़ने वाला जो सेतु है वो प्राण का है इसलिए श्वास बंद हो गई शरीर यहीं पड़ा रह जाता है मनो में कोष नई यात्रा पर निकल जाता है मृत्यु में स्थूल देह नष्ट होती है मनोदेह नष्ट नहीं होती मनोदेह तो केवल समाधिस्थ व्यक्ति की नष्ट होती है जब एक आदमी मरता है तो उसका मन नहीं मरता सिर्फ शरीर मरता है और वो मन नई यात्रा पर निकल जाता है सब पुराने संस्कारों को सांस लिए वो मन फिर नए शरीर को उसी तरह ग्रहण कर लेता है और करीब करीब पुरानी शकल के ही ढांचे पर फिर से निर्माण कर लेता है फिर खोज लेता है नया फिर नए गर्भ को धारण इन दोनों के बीच में जो जोड़ है वो प्राण का है इसलिए आदमी बेहोश हो जाए तो भी हम नहीं कहते मर गया बिल्कुल कोमा में पड़ जाए महीनों पड़ा रहे तो भी हम नहीं कहते कि मर गया लेकिन श्वास बंद हो जाए तो क्योंकि श्वास के साथ ही शरीर और मन का संबंध टूट जाता है और ये भी ध्यान रखें कि श्वास के साथ ही शरीर और मन का संबंध प्रतिपल परिवर्तित होता है जब आप क्रोध में होते हैं तब श्वास की लय बदल जाती है तब जब आप काम वासना से भरते हैं तो श्वास की लय बदल जाती है तत्काल जब आप शांत होते हैं तो श्वास की लय बदल जाती है तत्काल अगर मन अशांत है तो भी श्वास की लय बदल जाती है अगर शरीर बेचैन है तो भी श्वास की लय बदल जाती है श्वास का जो रिदम है वो पूरे समय परिवर्तित होता रहता है क्योंकि इधर शरीर बदला तो उधर मन बदला तो इसलिए जो लोग श्वास के रिदम को श्वास की लयबद्धता को ठीक से समझ लेते हैं वो मन और शरीर की बड़ी गहरी मालकियत को उपलब्ध हो जाते हैं जापान में छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि जब भी क्रोध आए तो तुम श्वास को शांत करो क्रोध को नहीं क्योंकि क्रोध को कोई शांत नहीं कर सकता सीधा दबा सकते हैं आप शांत नहीं कर सकते और दबाया हुआ आज नहीं कल फिर निकलेगा शायद और भी जहरीला होकर निकलेगा जापान में वो बच्चों को कहते हैं क्रोध आए तो श्वास को शांत करो क्योंकि जैसे ही श्वास शांत हो जाए क्रोध मन में उठता है लेकिन शरीर तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि श्वास के सेतु के बिना शरीर तक पहुंचना असंभव है और जब तक शरीर तक न पहुंचे तब तक दबाने की भी कोई जरूरत नहीं है और प्रकट करने की भी कोई जरूरत नहीं है अगर मन तक ही रह जाए तो विलीन हो जाता है शरीर तक पहुंचे तो फिर आपकी सामर्थ्य के बाहर हो जाता है मन से सीधे विलीन होने के उपाय हैं लेकिन शरीर बहुत स्थूल चीज है उसमें जब कोई चीज पकड़ जाती है तो या तो उसे प्रकट करो और या दबाओ प्रकट करो तो भी उपद्रव होता है दबाओ तो भी शरीर में ग्रंथियां निर्मित हो जाती अमेरिका का एक बहुत अद्भुत मनोवैज्ञानिक कुछ समय पहले मरा उस आदमी का नाम था विलियम रैक उसने जीवन भर मरीजों पर जो अनुभव किए उसका कहना था कि जब कोई आदमी अपने क्रोध को दबा लेता है तो क्रोध शरीर में गांठें बना के ठहर जाता है और बड़े आश्चर्य की बात है कि वो गांठों को दबा के आदमी को पुनः क्रोधित कर लेता था जीवन भर मरीजों के शरीर का अध्ययन करके अगर एक मरीज को वो अनुभव करता है कि इसकी बीमारी क्रोध का दमन है तो वो शरीर के उन हिस्सों को जोर से दबाता था जहां वो सोचता था कि क्रोध संग्रहित है फौरन वो आदमी क्रोध से भर जाता दूसरा आदमी उसी जगह दबाए जाने पर क्रोध से नहीं भरता सिर्फ वही आदमी और तत्काल क्रोध से जलने लगता अकारण क्योंकि अभी क्रोध का कोई कारण नहीं था अभी क्रोध की कोई वजह ही नहीं थी तो अगर दमाए तो शरीर में ग्रंथियां बन जाती हैं कॉम्प्लेक्सेस निर्मित हो जाते हैं आदमी की सौ में से नब्बे बीमारियां उसके दमित शरीरों में छिप गए वेगों का परिणाम इसलिए चिकित्सक उन्हें केवल बदल पाता है ठीक नहीं कर पाता आज ये बीमारी है चिकित्सक दवा देता है वहां से रोकता है बीमारी कल दूसरी जगह से शुरू हो जाती है चिकित्सक केवल ट्रांसफर करता रहता है बीमारियों का थोड़ी राहत मिलती है तो एक बीमारी से छूटे दूसरे के प्रकट होने में थोड़ा वक्त लगता है जो ग्रंथियां भीतर इकट्ठी हैं जो जहर भीतर इकट्ठा है सूक्ष्म ग्रंथियां बन गया है उसका निकल जाना जरूरी है लेकिन ना आए शरीर तक तो मन से सीधे वास्तवीभूत हो जाने के उपाय श्वास से दूरी से जो कुछ भी संवेदित होता है वो श्वास से संवेदित होता है अगर आप काम वासना से भरे हुए हैं और मात्र श्वास शांत रह जाए तो शरीर तक काम वासना को पहुंचाना मुश्किल है श्वास से ही शरीर तक पहुंचेगी रूस का एक बहुत अद्भुत फिल्म निर्देशक था इस सदी का सबसे विचारशील फिल्म निर्देशक था की उसने अभिनय पर गहनतम खोजें की खोजें बड़ी कम की है हर आदमी के काम की उसकी एक गहरी से गहरी खोज है और वो ये है कि वो अपने अभिनेताओं को श्वास की लयबद्धताएं सिखाता था वो कहता था जब तुम्हें क्रोध लाना हो तुम क्रोध की फिक्र मत छोड़ सोचो तुम सांस की ये लय पैदा कर लो क्रोध आ जाएगा जब तुम्हें प्रेम प्रकट करना हो तो तुम प्रेम प्रकट करने की कोशिश मत करो क्योंकि प्रेम प्रकट करने की कोशिश में जो कृत्रिमता आ जाती है जो आर्टिफिशियलिटी आ जाती है वो अभिनय को नष्ट कर देती है वो कहता था तुम श्वास की ये व्यवस्था बना लो भीतर इस गति से श्वास लो शीघ्र तुम्हारे चेहरे पर प्रेम झलकने लगेगा और तब वो जो झलक होगी वो बिल्कुल वास्तविक के निकट होगी वो अभिनय जैसी नहीं होगी स्तनवस्की कहता था अभिनेता को अपने शरीर और प्राण देह का मालिक होना चाहिए he must be a master vital body particularly तो ही अभिनय में कुशल हो सकता है तो कुशल नहीं हो सकता जर्मन एक नर्तक था निजिंस की वो जब नाचता था तो सभी को ऐसा भ्रम होता था भ्रम थोड़ी दूर तक सही था कि दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे नर्तक उसके मुकाबले थे लेकिन कहते हैं निजिंस की जैसा नर्तक पहले कभी नहीं हुआ और शायद फिर कभी ना हो सके और खूबी जो थी वो ये थी कि जब वो जमीन से नाचने में कभी छलांग लगाता था तो लौटने में ज्यादा वक्त लेता था इतना वक्त कोई नर्तक नहीं ले सकता था जैसे ग्रेविटेशन का असर उस पर कम होता हो जमीन की कशिश कम कम करती हो जब उठ जाता तो ऐसा लगता जैसे तैर रहा है हवा और लौटने में समय ज्यादा लेता था उसके साथ ही छलांग लगा हुआ आदमी कभी नीचे पहुंच गया होता लेकिन वो देर लेता बहुत खोजबीन की गई कि उसका राज क्या है सब तरफ जांच पड़ताल करके एक ही बात पता चली कि उसकी श्वास की रिदम में खूबी है उसकी श्वास की रिदम बहुत भिन्न है सामान्य नहीं और इधर पचास वर्षों में जितने लोगों के संबंध में खबर मिली है कि वो जमीन से ऊपर उठ सकते हैं जैसे अभी बोलीविया में एक स्त्री है जो चार फीट जमीन से ऊपर कभी कभी वर्ष में दो चार बार उठ जाती है तो उसके तो बड़े वैज्ञानिक परीक्षण हुए हैं फिल्म बनाई गई है सारी मेहनत हुई है कोई शक सुबह का कारण नहीं रह गया है लेकिन उसकी भी रिदम वही है जो निजिंस्की की थी उसकी भी श्वास की गति वही है प्राणायाम ने अपराण के विज्ञान ने श्वास की बहुत सी गतियां खोजी थी और उन श्वास की गतियों के साथ शरीर और मन दोनों में परिवर्तन होता है श्वास प्राण शरीर सेतु है इस तरफ है देह भौतिक उस तरफ है देह विचार की विचार हमारे अनुभव में सबसे सूक्ष्मतम चीज है लेकिन विचार भी है और अब तक जैसा सोचा जाता था कि विचार का कोई पदार्थगत अस्तित्व नहीं है वो गलत सिद्ध हो गया है विचार भी पदार्थगत अस्तित्व है एडिंगटन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है तब तो वो कल्पना थी उसने लिखा है कि मैं बहुत बार इस विचार से अभिभूत हो जाता हूँ और वो ये कि थॉट्स आर थिंग्स विचार भी वस्तुएं हैं लेकिन इसके लिए तब तक कोई प्रमाण नहीं था लेकिन अब इसके लिए बहुत वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध है अब तो कुछ यंत्र भी विकसित हो गए हैं इधर दस वर्षों में जो आपके विचार के तरंगों से भी प्रभावित होते हैं अगर आप एक उस यंत्र के सामने खड़े होकर तीव्रता से एकाग्रता करें तो यंत्र खबर देता है कि आदमी एकाग्र हो रहा है सिर्फ आप सामने खड़े हैं जैसे एक्सरे की मशीन के सामने खड़े हैं अगर आप अपने को रिलैक्स करें और विचार शिथिल छोड़ दें तो यंत्र खबर देता है कि आदमी के विचार शिथिल हो गए अमेरिका में एक आदमी है टेड सीरियो शायद इस आज की मौजूद दुनिया में विचार भी पदार्थ है इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह आदमी टेड सीरियो है टेड सीरियो को आकस्मिक रूप से एक एक विशेष शक्ति प्रगति शुरू हो गई टेट सीरियो किसी भी विचार पर ध्यान करके इतना एकाग्र हो जाता है कि उस विचार का चित्र उसकी आंख में आ जाता है और उस चित्र को कैमरे से उतारा जा सकता है जैसे टेड सीरियो अगर बैठ के शांत अपने मन में ताजमहल का विचार करे तो उसकी आंख पे ताजमहल का चित्र उभर आता है उस ताजमहल का जो उसने कभी देखा ही नहीं और ये केवल उभर नहीं आता उसकी कल्पना में इसको बाहर के कैमरे से फोटो भी ली जा सकती है टेड सीरियो के कोई दस हजार फोटोग्राफ लिए गए कई बार बहुत मजेदार अनुभव हुए टेट सीरियो के फोटोग्राफ अब प्रकाशित हो गए हैं सैकड़ों वैज्ञानिकों ने मेहनत ली है अलग अलग तरकीब से कि कोई धोखा तो नहीं लेकिन धोखे का कोई उपाय नहीं क्योंकि वैज्ञानिक को भी उसकी आंख में ताजमहल दिखाई पड़ता है फिर वैज्ञानिक को किसी तरह का धोखा भी दिया जा सकता है लेकिन केंद्र को धोखा देना बहुत मुश्किल और कैमरे में जो चित्र पकड़ जाता है वो क्या कहता है वो ये कहता है कि अगर विचार सघनभूत होकर आंख में ताजमहल बन सकता है तो विचार सिर्फ विचार नहीं है विचार भी वस्तु है भौतकलिक मेटेरियल है क्योंकि पदार्थ के ही चित्र लिए जा सकते हैं विचार के कैसे चित्र लिए जा सकते हैं चित्र तो पदार्थ के ही लिए जा सकते जिसका चित्र लिया जा सकता है वो काफी सब्सटेंशियल है वो काफी पदार्थगत है और बहुत बार तो बहुत मजे की घटना घटी जिससे टेड सीरियो कोशिश कर रहा है ताजमहल बनाने की अपनी आंख में अचानक वो आंख बंद करके कहता है कि ठीक है ताजमहल पकड़ लिया कैमरे को तैयार कर लो आंख खोलता है कैमरे की किलक होती और टेड सीरियो कहता है कि माफ करो चूक गए ये तो हिल्टन होटल आ गई विचार बदल गया भीतर क्षमा और मजे की बात है कि कैमरा ताजमहल का चित्र नहीं पकड़ता हिल्टन होटल का पकड़ता और कई बार तो ऐसा हुआ कि ताजमहल के ऊपर हिल्टन होटल इम्पोज हो गए दोनों ही पकड़े गए ताजमहल ज्यादा ताकत था और हिल्टन होटल आती खाती विचार भी वस्तुगत है अत्यंत सूक्ष्म है पर हम उसका भी भोजन कर रहे हैं और प्रतिपल हम अपने भीतर विचार को ले जा रहे हैं वो विचार हमारे भीतर एक काया को निर्मित कर रहा है एक शरीर निर्मित हो रहा है विचार की ईटों से बना हुआ भवन इसलिए कैसा विचार आप अपने भीतर ले जा रहे हैं वैसी आपकी मनोकाया होगी आदमी बहुत असुरक्षित है इस लिहाज से इस सदी में तो बहुत असुरक्षित है रेडियो विचार डाल रहा है अखबार विचार डाल रहे हैं नेता विचार डाल रहे हैं विज्ञापन का विचार डाल रहे हैं सब तरफ से विचार डाले जा रहे हैं आदमी में और कई बार आप सोचते हैं कि आप निर्णय कर रहे हैं आप बड़ी गलती में वन प्रकार ने किताब लिखी द हिडन परसुएडर्स आप सोचते हैं दुकान पर जाके आप कहते हैं कि मुझे बर्कली सिगरेट चाहिए आप सोचते हैं आपने चुनी है तो आप बड़ी गलती में हिडन परसुएडर से चारों तरफ अखबार से आपको कह रहे हैं बर्कली सिगरेट खरीदो तख्ती लगी है दुकानों पर दीवानों पर नाम लिखा है फिल्म देखने जाते हैं वहां बर्कली सिगरेट है रेडियो में सुनते हैं वहां बर्कली सिगरेट है जहां देखें वहां बर्कली सिगरेट है तो आपके दिमाग में डाल दी गई है अमेरिकन विज्ञापन दाता कहते हैं कि जो भी आदमी खरीदता है उसमें नब्बे परसेंट हम खरीदवाते और दस परसेंट वो जो खरीद रहा है वो उसकी कला नहीं है वो केवल विज्ञापन की कला का भी पूरा विकास नहीं हुआ उसमें कुछ आदमी की वो नहीं है अभी हम पूरा जैसे जैसे विकास कर लेंगे हंड्रेड परसेंट हम जानते हैं कि आदमी को हम क्या खरीदवा देंगे ये क्या खरीदेगा बचने की कुछ फिक्र करनी जरूरी है नहीं तो आप स्वतंत्र नहीं है अगर आपका मन दूसरे निर्मित कर रहे हैं तो आप स्वतंत्र नहीं आपके माँ बाप आपको धर्म दे देते हैं आपके गुरु स्कूल में आपको ज्ञान दे देते हैं फिर अखबार और विज्ञापन दाता और बाजार के लोग आपको चीजें खरीदने के सुझाव दे देते हैं फिर इनके आसपास आप जिंदगी भर जिए चले जाते हैं अब अमेरिका में मोटर ज्यादा उत्पादित हो रही है और खरीदार कम हो गए हैं क्योंकि सभी के पास गाड़ियां करीब करीब हो गई तो चिंतित थे दुकानदार की अब क्या करना है तो पिछले पांच सालों से एक नए विचार को प्रमोशन दिया जा रहा है और वो ये अमीर आदमी वही है जिसके पास दो गाड़ियां और दो गाड़ियां लोग रखना शुरू कर दिए एक गाड़ी गरीब आदमी का सबूत है सिर्फ एक ही गाड़ी है आपके पास वो गरीब आदमी का सबूत है और एक दफा गरीबी और एक गाड़ी को जोड़ने भर की बात है कि फिर दो गाड़ी के बिना काम नहीं चल सकता अमीर आदमी के पास कम से कम दो मकान होने ही चाहिए एक शहर में एक बीच पर या पहाड़ पर तो गरीब आदमी के पास एक ही मकान होता है बस एक बार विचार भीतर पहुंचा देने की जरूरत है कि फिर आप दीवाने होने शुरू हो जाते और सोचते हैं सदा आप ये कि मैं सोच रहा हूं यही धोखा है मनोकाया शब्द निर्मित है हम सब जानते हैं नाम जप के संबंध में हमने बहुत कुछ सुना है सबने जाना है लोगों को करते भी देखते हैं लेकिन आपको पता नहीं होगा it is simply a protective method and nothing else नाम जब जो है वो एक सुरक्षा का उपाय है अगर एक व्यक्ति रास्ते पर राम राम भीतर जपता हुआ गुजरे तो दूसरे शब्द उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि शब्द प्रवेश के लिए अंतराल चाहिए खाली जगह चाहिए एक आदमी 24 घंटे अगर भीतर राम जप करता रहे बुहारी लगाता हो भीतर राम राम चलता हो खाना खाता हो भीतर राम राम चलता हो दुकान जाता हो भीतर राम राम चलता हो किसी से बात भी करता हो तो भी भीतर राम राम चलता हो तो उसने एक प्रोटेक्टिव मेजर खड़ा कर लिया अब आप हर कुछ उसके भीतर नहीं डाल सकते अब एक सघन परत उसके भीतर राम की दीवार खड़ी है अब इस राम की दीवार को पार करके आसान नहीं है कि कुछ भी चला जाए वो आदमी अपनी मनोकाया को एक विशेष रूप और आकृति देने की कोशिश में लगा है और ये भी बड़े मजे की बात है कि ये राम की जो दीवार अगर खड़ी हो जाए तो इसमें से अगर कभी कुछ प्रवेश भी करेगा तो वो प्रवेश वही चीज कर पाएगी जो राम की धारणा से तालमेल खा सके अन्यथा नहीं कर पाएगी एक अफिनिटी चाहिए तो भीतर प्रवेश हो जाएगी जैसे अगर कोई ऐसे आदमी के पास जोर से कहे रावण तो दीवार से टकरा के शब्द वापस लौट जाएगा और कोई कहे सीता तो भीतर प्रवेश कर जाएगा ये जो पर्थ है ये अब अपने अनुकूल जो है उसे गति दे देगी और प्रतिकूल जो है उसे रोक देगी और ये व्यक्ति अपने भीतर की मनोकाया का एक अर्थों में मालिक होना शुरू हो जाएगा जिसको द्वार देना होगा देगा जिसको द्वार नहीं देना होगा नहीं देगा और अगर हम अपने मन के भी मालिक नहीं है तो फिर हम किस बात के मालिक हो सकते हैं ये जो मन है ये हमारा तो करीब करीब विक्षिप्त है क्योंकि हम विरोधी चीजों को मन में एक साथ ले जा रहे हैं अनंत विरोधी चीजों को लोग कहते हैं बड़ा चित्त बेचैन है विभ्रम में है कंफ्यूज है बड़ी हैरानी की बात है कि वो इसको समझते हैं कि ये कोई बीमारी है जिसको ठीक करना पड़े ये आपकी साधना है आप 24 घंटे साध रहे हैं इसे आप समस्त तरह के विरोधी विषाणु को भीतर ले जा रहे हैं एक विचार भीतर डालते हैं उसका विरोधी भी भीतर डाल लेते हैं उन दोनों के भीतर बेचैनी है एक पोलरिटी है एक ध्रुवीयता है वो दोनों एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं और आप संघर्ष में पड़ जाते हैं आप संघर्ष में नहीं है आपके भीतर के विचार संघर्ष में है और अनंत विचार है भीतर और अनंत विचारों के बीच बड़ा संघर्ष है कोई पूरब जाना चाहता है कोई पश्चिम जाना चाहता है कोई कहीं जाने नहीं चाहता इन सब के भीतर भारी संघर्ष है और आपकी हालत करीब करीब वैसी जैसे किसी बैलगाड़ी में हमने चारों तरफ बैल बांध दिए कभी बैलगाड़ी दो इंच पूरब सरक जाती है कभी चार इंच पश्चिम सरक जाती है जब जहां के बैल जरा ताकतवर पड़ जाते हैं या जब जहां के बैल जरा आलस खा जाते हैं लेकिन ये कसम कस चलती रहती है और बैलगाड़ी कहीं पहुंच नहीं सकती आखिर में उसके अस्थि पंजर बिखर जाएंगे और कुछ होने वाला नहीं हम सब ऐसी हालत में है एक आंतरिक विभूचन है एक आंतरिक विडंबना है एक व्यक्ति मेरे पास अभी आए उन्होंने कहा कि संतोष चाहिए जीवन में संतोष चाहिए जीवन में लेकिन मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता आपके पास आया हूं विश्वास मेरा आप पे बिल्कुल नहीं है कोई संतोष का रास्ता बताएं मैंने उनसे कहा मैं रास्ता बताऊंगा लेकिन विश्वास तो उस पर आएगा तो मैंने उनसे कहा तुम संतोष छोड़ना खोजना छोड़ दो तुम खोज तो असंतोष रहे हो क्योंकि जो आदमी कहता है मुझे किसी पर भरोसा नहीं है वो संतोष नहीं पा सकता क्योंकि जिसे गैर भरोसा रखना है उसे सदा ही सजग रहना पड़ेगा डरा हुआ रहना पड़ेगा भयभीत रहना पड़ेगा वो सदा खतरे में है क्योंकि चारों तरफ जो भी है सब पर अविश्वास कहीं कोई फंस अगर ऐसा आदमी ठीक ठीक विकास करे तो वो मकान के भीतर नहीं बैठ सकता क्योंकि मकान पता नहीं कब गिर जाए वो मकान के बाहर खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि पता नहीं क्या दुर्घटना हो जाए वैसा आदमी अगर गैर भरोसे को बढ़ाता चला जाए तो अपना भी भरोसा नहीं कर सकेगा मैं एक यूनिवर्सिटी के बहुत बुद्धिमान प्रोफेसर को जानता हूं जिनकी अखीर में हालत यह हो गई कि वो अपने पर भरोसा नहीं कर सकते थे तो कमरे में छुरी कांटा या ऐसी कोई चीज नहीं रख सकते थे रात को क्योंकि कब उठा के वो छाती में भोंक ले इसका उन्हें भरोसा नहीं रहा था तो या तो रात उनके कमरे में कोई रहे लेकिन उसका भी उनको भरोसा नहीं आता या बाहर रहे तो कमरे में कोई चीज नहीं रहनी चाहिए क्योंकि खुद का भी भरोसा नहीं था असल में जो किसी का भी भरोसा नहीं करता एक दिन वो घड़ी आई जाती है कि खुद का भी भरोसा नहीं कर सकता असल में भरोसा ही नहीं कर सकता असली सवाल ये खुद का और दूसरे का नहीं है फिर संतोष की कोई संभावना नहीं संतोष तो उस व्यक्ति को फलित होता है जो भरोसे की स्थिति बिल्कुल न होने पर भी भरोसा कर सकता है एक छोटा सा बच्चा अपने बाप का हाथ पकड़ के जा रहा है उसके संतोष की कोई सीमा नहीं है हालांकि पक्का नहीं कि बाप उसको रास्ते पर नहीं गिरा देगा कोई पक्का नहीं कि बाप खुद नहीं गिर जाएगा कोई पक्का नहीं है क्योंकि बाप हो सकता है खुद ही लड़के का हाथ जोर से इसीलिए पकड़े हो कि सहारा रहे लेकिन लड़का संतुष्ट है मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन अपने लड़के को अपने लड़के को एक सीढ़ी पर चढ़ा दिया है छोटा लड़का है आठ दस साल का होगा सीढ़ी पर खड़े करके नीचे हाथ फैला के खड़ा हो गया उसने कहा कि बेटा कूद जा उसने कहा कि अगर गिर गया नसरुद्दीन ने कहा तो पागल इतना जरा बाप तुझे संभालने को गिरेगा क्यों उसने कहा बहुत डर लगता है नसरुद्दीन ने कहा जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो डर की जरूरत क्या है बहुत लड़के ने झिझक खाई लेकिन जब बाप नहीं माना तो लड़का कौन पड़ा नसरुद्दीन छोड़ के जगह करके खड़ा जमीन पे गिरा घुटने टूट गए उस लड़के ने कहा यह आपने क्या किया नसरुद्दीन ने कहा तुझे जिंदगी का पाठ दिया अपने बाप का भी भरोसा मत इस दुनिया में भरोसा करना ही मत सिवाय धोखेबाजों के और कोई नहीं इस मनोदशा का अगर भीतर प्रवेश हो तो संतोष संभव नहीं संतोष किसी व्यवस्था में संभव है वो एक भरोसे की व्यवस्था है असंतोष संदेह की एक व्यवस्था है अगर दोनों साथ चाहते हैं तो कठिनाई खड़ी हो जाती एक मित्र आए थे वो कहते हैं कि मुझे मृत्यु का बड़ा भय और आत्मा में मेरा कोई जरा भी आस्था नहीं बैठती कि आत्मा है मैंने उनसे कहा अगर आत्मा बिल्कुल नहीं है तो मृत्यु के भय की क्या जरूरत है आप मरे हुए हैं अब और मरने को बचा क्या और अगर आत्मा में भरोसा तो फिर मृत्यु की भी भय की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो नहीं मरेगी आप दो में से कुछ एक तय कर ले अगर ये बिल्कुल पक्का आपका ख्याल हो गया कि आत्मा नहीं तो मृत्यु का भय अब बिल्कुल पागलपन जो है ही नहीं वो मरेगा क्या आप खाली एक जोड़ हो बिखर जाओगे और जोड़ बिखरेगा तो दर्द किसको होने वाला है किसी को भी नहीं एक घड़ी को जब हम बिखेर के रख देते किसको पीड़ा होती कुछ नहीं सब जो था बिखर गया कोई पीछे तो बचता नहीं जिसको पीड़ा हो पक्का समझ लें कि कुछ नहीं है आत्मा तो फिर तो आपको मृत्यु का कोई कारण ही नहीं है उन्होंने कहा और अगर आत्मा है अगर अगर आत्मा है इसका कोई मतलब नहीं होता मतलब आप अपनी मृत्यु के भय को कायम ही रखना चाहते हैं अगर आत्मा है उनका मतलब ये कि मृत्यु का भय तो है ही अगर आत्मा न मानने से नहीं रखा जा सकता है भय तो हम इस तक के लिए राजी हैं कि आत्मा है लेकिन भय का क्या करें मैंने उनको कहा अगर आत्मा है तब तो भय की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि आत्मा का अर्थ ही इतना होता है कि मृत्यु नहीं पर इन, इनकी तकलीफ क्या है इनकी तकलीफ ये है कि कहीं गहरे में ये बचना भी चाहते हैं कहीं गहरे में जीना भी चाहते हैं सदा फिर भरोसा भी नहीं कर पाते कि सदा जीना हो भी सकता है स्वयं के विरोध में स्वर है तो ऐसा व्यक्ति अपने को ही काटता चला जाता मन एक भ्रमणा हो जाती है क्योंकि हम विरोधी विचारों को इकट्ठा कर लेते हैं अगर मन की काया को शुद्ध करना है तो मन की काया को शुद्ध करने का एक ही उपाय है और वो है विचारों में एक तरह का सामंजस्य चाहिए एक संगीत बद्धता चाहिए एक स्वरता चाहिए एक हारमोनी चाहिए तो मन की काया शुद्ध होती है और आदमी भीतर प्रवेश करता है in the morning we discuss two bodies the physical and the vital the third is known as the mental body as the mind body this third is constituted of thoughts but the science of yoga believes that thoughts are not only thoughts, they are things. They are substantial. They are. They have an existence of their own. Very subtle existence, but there is existence. So whenever a thought goes into you, you are changing your mind body. You are giving food to it. And we are so unaware about this phenomena that mind is being fed every moment and that we are giving it anything without any choice. It is just a confusion. Whatsoever we go on giving to the mind, we are only concerned that the mind must remain occupied. That's all. Occupation it itself has become an aim. One should not be unoccupied. So go on reading anything, go on listening anything, go on seeing anything. Go on, do something with the mind. So whatsoever is around, we are vulnerable to it. This is very fatal because then you create a very confused mind body very confused with contradictions with infinite contradictions and that's the reason why there is so much anguish and so much tension and so much misery inside that's the reason why mind is just mad now Psychologists say that really no one is normal. Only there are two types of abnormalities. One, normal abnormality. Another, abnormal abnormality. So there are two types of insane people. One, who are in sin in a socially way. And others who are in sin in their individual individual whim. But everyone seems insane. And it is because we have never thought that our mind body requires a inner harmony, a inner music. Thoughts should not be in contradiction. Thoughts must be in a certain harmony, in a certain inner balance. Otherwise, you become just a crowd. You are. Caesar Zunk came to realize that no one has a mind. Everyone is many minds. Everyone is polypsychic. We go on talking about my mind, never talk about it again. Say my minds. You have many. You are just a crowd, Not even a group, but a crowd, And not even a crowd, but a warring crowd. Each thought fighting with someone else. Gurdjieff used to say that man is just like a palace where there are so many slaves but the master has gone out and he has been out for so long a time that the slaves have now completely forgotten that there was a master now, whenever someone passes by the palace, and it is such a beautiful palace, that everyone wants to inquire to whom it belongs. So any slave who happens to be on the door says, it belongs to me, I am the master. But another time the same person passes by, someone else is on the door and he asks, to whom this palace belongs. He says, belongs to me. I am the master. So the whole city is confused. Who is the master? Everyone says, I am the master. Every slave. Gurdjieff used to say, such is the condition of man. Every thought that passes just on your surface mind becomes the master and the master is either asleep or has gone for a long journey and has not come back and it has been so long that's why we have no will we cannot have a will if we are just a crowd you decide to do something and the second moment you decide not to do it and the third moment neither you are decisive to do it now, nor even not to do it now. You are simply indecisive. You decide that I am going to be awake in the morning, 4 o'clock. And then at 4 o'clock, you yourself say, there is no need. <laughs> another slave is on the surface, not you. The same one is not here who decided. Because in the morning we are, when you are awake at 8 o'clock, you begin to repent. That why? When I decided why I couldn't get up, why? This is the third. And these three will never meet. They have no dialogue they are just atomic thoughts and any atomic thought on the surface becomes the master you cannot have the will really you cannot have any soul you are not an individual you must be knowing the meaning of the word individual it means indivisible that which cannot be divided but we exist in division. So we cannot be said to be individuals. We are just a divided crowd. Yoga is the science of individuation. It is how to create the individual, how to crystallize this crowd into one. how to create a center which can be the master always and always and how to put every slave in its place but then then you will need a purification of your mind you will need a catharsis a deep catharsis is needed then you have to throw all that is just contradictory you have to create a harmony in your thoughts. And don't allow any thought to come in because to allow it to be in is easy, but then to displace it from there is very difficult. It is very difficult. So the first thing, don't allow Thoughts which are not going to help create a harmony inside. And then go on searching and observing what contradictory thoughts you have and then then be the chooser then emphasize the one which can create inner peace and inner silence then then you have a purified mental body and with this body transparent you can look beyond and you can go to another body beyond the mind body is the fourth the fourth body the fourth body is known as consciousness body, Vijnanamaya Kos. It will be difficult, a bit difficult to distinguish between mental body and conscious body. Because we don't know any consciousness except the mind. But if the mind is torified, then you become simply aware that something else is still behind the mind. Then the mind becomes a door. But we can understand. You have thoughts. That's one thing. But you can be aware of your thoughts. And this awareness is not a thought at all. You have anger this is a thought, a thought process. You can be aware of it, that now in me is running a thought process, a combination of thoughts, which is known as anger, or jealousy, or love. You can be aware, you can stand out of it and be aware that this is anger, you can be aware this is a thought. This awareness that this is a thought, this observation, this possibility to observe thought process creates the fourth body. So everyone doesn't have the fourth body really developed, but only as a potentiality, only as a possibility. When you become aware of your mind, only then you have the fourth body. And then there is a growth. Sometimes we have glimpses. Sometimes we become aware. In, in moments of sudden dangers, in accidents, in encountering a situation we have not faced before, we become aware. Because for the first time, the mind in the shock of the of the accident or of a dangerous situation, in that shock the mind stops. For example, if someone puts a dagger suddenly upon you, mind will stop. Because there is nothing to do now to think. And the thought will stop. And when thought stops, you become aware. you become aware that thought has stopped, but still there is consciousness. I am conscious. This is the fourth body, the consciousness body, our conscious body. We have it, but in a very undeveloped form. To develop it is arduous because it needs much effort. To remain conscious of every thought that passes in your mind, of every thought that has been become an accumulation in your mind, a part of your mind, all the conditionings of the mind to become aware of them is arduous. It is difficult but not impossible. And only when this becomes possible you have the dignity of being called a human being, otherwise not. Because an unconscious human being means nothing. Then you are just just being torn from here and there by impressions and influences from the outside. When you become conscious, then you cannot be influenced. For the first time, you become the chooser. Buddha is passing a village, and many people have come with great abuse they are condemning him like anything, abusing him, throwing stones at him, and he is standing there. And then someone asks, now, what are you going to do? Buddha says nothing, because now I have become the chooser. You cannot manipulate me. You cannot manipulate me. You can abuse me. That is up to you. But you cannot create the reaction. You cannot manipulate me. If you abuse me and I react it, and the reaction can be predicted by you, then it is just a manipulation. I am nowhere in it. You push the button and the anger is there. Reaction means that you have no conscious body developed. So you go on reacting. Really, when you go on reacting, those reactions cannot be said actions because actions come only with a conscious conscious body really developed and mature then you act otherwise you go on reacting someone says this so you say that Someone does this, so you react in that way. And everything is predictable. We know. The husband comes home back in the evening. He knows what is going to happen. The whole scene is predictable. What the wife is going to ask, he knows the question already. And now he is preparing answers. And the wife is knowing already what answers he is going to give. And the whole game is predictable and daily it is repeated. What we are doing. And the husband knows very well that whatsoever he say, whatsoever he may say, it is not going to be believed. And still, he will answer in the same way. And the wife knows that whatsoever and howsoever she may ask, he is going to give the deceptive answer. But still she goes on asking. Is there a dialogue? Impossible. There is just a, a deceptive game both are playing. And this continues for the whole life. People go on reacting in the same old routine way. Why? If I know that if I ask this question, that answer is to be given. And I'm, if I am conscious, there is no need to ask. The whole thing is just absurd. There is no need to ask. And I have asked many times, and many times I've been frustrated, and again the same thing. Really, we are not conscious. The moment husband enters in the house, the question comes out. It is not the wife who is asking it. It is just the mechanical the question comes out. And the moment there is question, the answer is manipulated. Have we done anything ever as a conscious agent, as a conscious action? No. If you have done, then you must have become aware of a different thing than the mind. The awareness of mind, the consciousness of the thought process, this is standing outside the mind, beyond, just as an onlooker, an observer, is the fourth body. Fourth body is constituted of consciousness. third body is constituted of thoughts fourth body is constituted of consciousness चौथा शरीर है विज्ञान में कोष तीसरा शरीर निर्मित है विचारों से चौथा शरीर निर्मित है चेतना से होश से बोध से वो बोध शरीर है जब हम विचार के जानने में समर्थ हो जाते हैं जब हम विचार को भी ऐसे देख सकते हैं जैसे कोई आदमी आकाश में सरकती हुई बदलियों को देखे जब हम विचार को भी ऐसे देख सकते हैं जैसे कोई आकाश में उड़ते हुए बगलों की कतार को देखे ऐसे ही अपने चैतन्य के आकाश में विचार को उड़ते देखे दूर खड़ा हो सके तो चौथे शरीर का पता चलता है लेकिन हम तो पहले शरीर से इस बुरी तरह बंधे कि दूसरे का तक पता नहीं चलता फिर हम तीसरे शरीर में इस बुरी तरह ग्रसित है हम इस बुरी तरह मन में डूबे हैं कि मन के पार भी हम हो सकते हैं इसका हमें पता भी नहीं चलता बोधि धर्म गया चीन कोई चौदह सौ वर्ष पहले चीन के सम्राट वू ने उससे कहा मेरा मन बड़ा अशांत है कुछ मार्ग बोधि धर्म ने कहा तुम कहते हो तुम्हारा मन बड़ा अशांत है क्या तुमने कभी कोई शांत मन भी देखा है वो हैरान हुआ उसने कहा शांत मन तो कभी मैंने नहीं जाना तो बोधि धर्म ने कहा तुम अशांत मन क्यों कहते हो सच तो यह है कि अशांति का नाम मन है अशांत मन तुम दोहरे शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हो अशांति का नाम मन है और तुम मन को शांत करने चले हो पागल हो जाओगे कभी मन शांत ना होगा तो वो ने कहा तो फिर क्या ऐसी अशांति में मर जाना होगा बोधि धर्म ने कहा नहीं लेकिन मन के पार हो सकते हो और मन के पार जो है वो शांत है मन को शांत नहीं कर पाओगे लेकिन मन के पार हो जाओ तो जो है वो शांत है और अगर वो मिल जाए तो मन भी शांत हो जाता है असल में मन तिरोहित हो जाता है जैसे ही चौथा शरीर विकसित होता है तीसरा शरीर बिखरने लगता है और जैसे ही चौथा शरीर विकसित हो जाता है तीसरा शरीर जो है वो केवल उपयोगिता मात्र रह जाती है उसकी चौथे शरीर को विकसित जिसने किया है वो व्यक्ति विचारों से घिरा नहीं रहता जब उसे जरूरत होती तब विचार का उपयोग कर लेता है ठीक वैसे जिससे हम जरूरत होती है हम पैर से चल लेते आप ये तो नहीं कहते कि हम बैठे रहेंगे कुर्सी पे लेकिन पैर चलाते रहेंगे कुछ लोग चलाते रहते हैं कुछ लोग चलाते रहते हैं वो उसका कारण कुल इतना ही है कि अगर अभी पैर ना चलाए तो चलते वक्त क्या करेंगे अभ्यास जारी रखना चाहिए या उन्हें पता ही नहीं जहां तक संभावना तो यह है कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके पैर हिल रहे मालिक ही नहीं तो पता किसको हो पैर को हिलना है तो पैर हिलते हैं सिर को चलना है तो सिर चलता है जिसको जो करना है वो कर रहा है सब गुलाम है मालिक कोई भी नहीं और कोई किसी की आज्ञा मानने को सुनने को तैयार भी नहीं ठीक विचार भी जब चौथा शरीर अनुभव में आता है तो विचार भी केवल उपयोगी रह जाते हैं जब जरूरत होती तब आप विचार करते हैं जब जरूरत नहीं होती तो नहीं करते अगर गैर जरूरत विचार करते हैं तो आपको चौथे शरीर का पता होना बहुत मुश्किल है ख्याल में नहीं आएगा क्योंकि तो विचार चलते ही रहेंगे आप कितना ही कहो रुको वो नहीं रुकते उसका कारण है आपने कभी ख्याल ना किया होगा तो मैं कितनी तो कोशिश करता हूँ विचार के लिए कि रुको ठहर जाओ शांत हो जाओ वो नहीं होते आपको ये पता नहीं है कि जो ये आप कह रहे हैं रुको ये भी एक विचार मात्र है नहीं तो फौरन रुक जाते और एक विचार दूसरे विचार को नहीं रोक सकता वो बराबर ताकत के बल्कि जब एक विचार कहेगा रुको तो दूसरा विचार और तेजी से चलेगा कि तू कौन हमें रोकने वाला एक गुलाम दूसरे गुलाम से कहेगा कि रुको तो दूसरा गुलाम कहेगा दौड़ेंगे तुम कौन मालिक मैं हूं आपकी जो सारी चेष्टा है कि शांत हो जाए विचार फला हो जाए ये सब विचार है और एक विचार दूसरे विचार को नहीं रोक सकता असल में जब भी कोई आज्ञा मिलती है वो ऊपर के तल से हो तो ही काम करती नहीं तो नहीं करती जब विज्ञान में शरीर से आज्ञा आती है रुको तो कोई विचार की हैसियत नहीं कि इंच भर सड़क जाए तो वहीं ठहर जाता है लेकिन आज्ञा सदा ऊपर से माननी पड़ती है समतल आज्ञा नहीं हो सकती ये चौथा शरीर है इसको थोड़ा विकसित करें तो ख्याल में आएगा और तब तब ऐसा परेशान नहीं होना पड़ता कि विचार रुको ये कोई सवाल ही नहीं है ठीक ऐसी घटना घट जाती है कि समझो मालिक लौट आया सब गुलाम जल्दी से पैरों में पड़ के नमस्कार कर लेते हैं अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं कि आज्ञा ये सब अभी कह रहे थे कि मैं मालिक हूं मालिक वापस आ गए ये सब हाथ जोड़ के खड़े हैं कि आज्ञा ठीक विज्ञान में कोष विकसित होते ही विचार ऐसे ही गुलाम की तरह खड़े हो जाते जरूरत हो तो उपयोग कर ले अन्यथा उनको डाल दें अलग स्मृति के संग्रह में वो पड़े रहते हैं लेकिन आपको पागल नहीं बनाए रखते 24 घंटे कि रात को आप कह रहे हैं कि क्षमा करो थोड़ा सो जाने दो मत चलो मगर वो आपकी सुनी नहीं रहे आप हैं ही नहीं जिसकी सुनी जा सके आप उसी दिन होते हैं जिस दिन विज्ञान में कोष की झलक आपको मिलनी शुरू होती मन को पार करें अगर मन को तो मन को रोके मत रोक नहीं सकते लेकिन मन को हारमोनियस कर सकते हैं संगीतबद्ध कर सकते क्योंकि मन खुद भी परेशान है वो आपके हाथ में मन को स्वस्थ कर सकते हैं लेकिन जैसे ही मन स्वस्थ हो जाए पीछे की परत दिखाई पड़नी शुरू हो जाती या फिर पीछे की परत को जन्माने की कोशिश करें इसलिए मन से ये मत कहें कि विचार बंद करो कुछ करें जिससे विचार बंद हो जाते हो ध्यान चौथे शरीर को जगाने का उपाय है क्योंकि ध्यान चैतन्य को बढ़ाता है ध्यान विज्ञान को बढ़ाता है ध्यान बोध को जगाता है तो ध्यान चौथे शरीर को बढ़ाने की व्यवस्था है मैंने आपसे कहा चौथा शरीर है विज्ञान में ध्यान उसका भोजन है विचार तीसरे शरीर का भोजन है ध्यान चौथे शरीर का भोजन ध्यान भी ऊर्जा है ध्यान भी शक्ति है और ध्यान वैसी ही शक्ति है जैसी कोई भी शक्ति अति सूक्ष्म इसे कभी थोड़ा प्रयोग करके देखें तो ख्याल में आए कभी अपनी नाड़ी को नाप ले जांच ले कितनी चल रही है फिर पांच मिनट आंख बंद करके नाड़ी पर ध्यान करें सिर्फ ध्यान करें जस्ट बी अवेयर और फिर नापें आप पाएंगे नाड़ी में फर्क पड़ गया नाड़ी वही नहीं चल रही जैसे पहले चल रही ध्यान ने क्या किया ध्यान की ऊर्जा नाड़ी की तरफ प्रवाहित हो गई नाड़ी की गति बढ़ गई ध्यान एक ऊर्जा है कभी रास्ते पर कोई आदमी जा रहा हो उसके पीछे चलते चलते उसकी उसके माथे के पीछे सिर पर गले पर दोनों आंखें गड़ा लें और सिर्फ ध्यान करें कुछ न करें उसके पीछे की गले की हड्डी पर ध्यान भर करते रहें एक आध दो सेकंड में आप पाएंगे वो आदमी बेचैन होने लगा सौ में नब्बे मौके पर वो आदमी दो मिनट के भीतर लौट के देखेगा क्या बात है आपने कुछ किया नहीं लेकिन सिर्फ ध्यान और एक बहुत सूक्ष्म ऊर्जा आपके शरीर से उस आदमी को छूने लगी बहुत सूक्ष्मतम ऊर्जा है ध्यान और अभी उनको रूस में फिक्र करनी पड़ रही है ध्यान की क्योंकि जैसे जैसे अंतरिक्ष की यात्रा है वैसे वैसे ध्यान पर ध्यान देना पड़ेगा वैज्ञानिक कारणों से उन्हें क्योंकि यंत्र भरोसे के नहीं है अभी अंतरिक्ष यात्री मरे यंत्र भरोसे के नहीं रेडियो संयंत्र अगर असफल हो गया तो उनसे हम तक कोई खबर नहीं आ सकेगी तो हम भी उन्हें कोई खबर नहीं दे सकेंगे और अगर उनका अंतरिक्ष यान खो गया अनंत में तो हमें यह भी पता नहीं लगेगा वो कहा गया वो अब जीवित है कि नहीं है उनके बाबत हम कुछ भी ना कर सकते अमरीका की एक इंश्योरेंस कंपनी ने जाहरात की है कि हम अंतरिक्ष यात्रियों का बीमा तो करेंगे लेकिन बीमा चुकाएंगे तभी जब पक्का खबर मिल जाए कि वो मर गए नहीं तो ऐसा वो कहीं भी खो जाए और जिंदा हो डेफिनेट प्रूफ चाहिए कि वो मर गए तो हम चुकाएंगे लेकिन अगर अंतरिक्ष यान खो जाए और रेडियो संयंत्र काम ना करे तो यात्री जिंदा रहे या ना रहे या कहा जाए या क्या हुआ या क्या नहीं हुआ हमारे पास कोई खबर ना होगी तो यंत्र के साथ साथ कोई और चीज संयुक्त हो एज ए सब्सिट्यूट मेजर उसके लिए रूस बहुत जोर से ध्यान पर काम करता और ये कोशिश की जा रही है और उसमें थोड़ी दूर तक सफलता मिली है कि जब रेडियो संयंत्र काम न करे तो एक अंतरिक्ष यात्री तो ध्यान में निष्णात चाहिए जो केवल ध्यान की ऊर्जा से संदेश पहुंचा सके और इसमें काफी दूर तक सफलता मिली है ध्यान की ऊर्जा से संदेश पहुंचाए जा सकते हैं और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि अगर पहुंचाया जा सकते हैं तो वो सौ प्रतिशत पहुंचाया जा सकते हैं फिर भूल चूक नहीं होगी नहीं पहुंचाए जा सकते तो नहीं पहुंचाए जा सकते ध्यान भी एक ऊर्जा है सूक्ष्मतम शायद फिजिसिस्ट भी अनुभव करते हैं कि ध्यान ऊर्जा होनी चाहिए शरीर शास्त्री ही नहीं मन शास्त्री ही नहीं भौतिक शास्त्र के ज्ञाता भी अब अनुभव करते हैं कि ध्यान जरूर ऊर्जा होनी चाहिए क्योंकि वे ये ख्याल धीरे धीरे साफ हो गया है कि अगर हम किसी वस्तु को ध्यान से देखते हैं तो देखने के कारण ही उस वस्तु में रूपांतरण हो जाते वस्तु में भी अगर हम एटम को निरीक्षण करें तो निरीक्षण करने के बाद एटम जो व्यवहार करता है वो व्यवहार वही नहीं होता जो गैर निरीक्षण की हालत में करता है ऑब्जर्वेशन निरीक्षण कुछ फर्क लाता है ठीक वैसे जैसे एक आदमी रास्ते पर अकेला चला जा रहा है तो उसकी चाल और होती अचानक उसी रास्ते पर एक आदमी और निकल आया तो उसकी चाल और हो जाती है चाहे कितना ही सूक्ष्म फर्क पड़ता हो लेकिन फौरन पड़ जाता है आप अपने बाथरूम में स्नान कर रहे हैं तब आपकी हालत और होती अचानक आपको पता चला कि की होल में से कोई झांक रहा है क्या हो क्या गया लेकिन आदमी में हो समझ में आता है लेकिन अब वैज्ञानिक कहते हैं वस्तु में भी अंतर पड़ता है वस्तु भी थोड़ी भिन्न हो जाती दिलाबार प्रयोगशाला में ऑक्सफर्ड में फूलों पर ध्यान के प्रयोग किए गए हैं और कोई प्रेम पूर्ण रूप से फूल पर ध्यान करता है और दूसरा फूल ठीक वैसी ही फूल बिना ध्यान के छोड़ दिया जाता कोई उस पर ध्यान नहीं करता उसको पानी दिया जाता है धूप दी जाती सब पूरी एक सी व्यवस्था लेकिन जिस फूल पर ध्यान किया जाता है वो बड़ा हो जाता है और जिस फूल पर ध्यान नहीं किया जाता वो छोटा है जिस बीज पर ध्यान करके बोया जाए वो जल्दी अंकुरित हो जाता है जिस पर ध्यान करके न बोया जाए वो देर से अंकुरित होता है क्या बीज में कोई अंतर पड़ता है क्या फूल भी कुछ ध्यान की ऊर्जा से प्रभावित होता है कोई ऊर्जा जाती आती नहीं मालूम पड़ती लेकिन कहीं कुछ ऊर्जा जरूर काम करती है ये ध्यान भोजन है चौथे शरीर का तो हम जो ध्यान कर रहे हैं वो भी इस चौथे शरीर को जगाने की चेष्टा है इन चारों कोषों के पार पांचवी देह है उसे ऋषियों ने कहा है आनंदमय कोष ब्लिस बॉडी जब कोई विज्ञान में कोष में खड़ा होता है और विज्ञान में कोष को शुद्ध कर लेता है ध्यान से भरपूर कर देता है तो सबसे पारदर्शी शरीर पैदा होता है स्थूल शरीर इतना पारदर्शी कभी नहीं हो सकता क्योंकि द वेरी मैटर्स वो जिस चीज से बना है उसको कितना ही रगड़ो कितना ही रगड़ो तो भी वो पूरी पारदर्शी नहीं हो पाती उसका स्वभाव है प्राण ऊर्जा उससे ज्यादा पारदर्शी हो पाती है लेकिन फिर भी पूरी पारदर्शी नहीं हो पाती मन और ज्यादा पारदर्शी हो पाता है लेकिन फिर भी पूरा पारदर्शी नहीं हो पाता सर्वाधिक पारदर्शी होती है विज्ञान काया एकदम पारदर्शी हो जाती है कहना चाहिए इतनी पारदर्शी हो जाती है कि आप आर पार देख ही नहीं सकते आर पार जा सकते इतनी पारदर्शी हो जाती है कि आप आर पार देख ही नहीं सकते आर पार जा सकते इतनी पारदर्शी हो जाती है कि उसका कोई रेसिस्टेंस नहीं होता फिर उसका कोई प्रतिरोध नहीं होता शुद्धतम ऊर्जा है ध्यान the most purified energy possible. उसमें से आप पार गुजर जाएं तो कहीं कोई धक्का नहीं लगता कहीं कोई चोट नहीं आती कहीं कोई पता ही नहीं चलेगा अगर आप शुद्धतम विज्ञान ऊर्जा में खड़े हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि चौथा शरीर है भी इसलिए मजे की बात घटती है और वो ये कि जैसे ही कोई विज्ञान काया में खड़ा होता है उसे विज्ञान काया का पता नहीं चलता उसे आनंद काया का पता चलता है इसे ठीक से समझ लें क्योंकि चौथा शरीर इतना शुद्धतम शरीर है कि उसमें वो दिखाई ही नहीं पड़ता कि चौथा भी है जैसे कांच अगर बिल्कुल शुद्ध हो तो दिखाई नहीं पड़ेगा अगर दिखाई पड़ता तो उसका मतलब थोड़ा अशुद्ध है अगर कांच दिखाई पड़ता है तो उसका मतलब ही है कि थोड़ा अशुद्ध है अगर बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता तो ही शुद्ध है लेकिन कांच फिर भी पदार्थ है दिखाई भला ना पड़े आंख के लिए बाधा ना हो लेकिन अगर आप जाएंगे तो टक्कर खाएंगे लेकिन विज्ञान ऊर्जा शुद्धतम ऊर्जा है अब तक जानी गई अब तक पहचानी गई विज्ञान से या योग से जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म शक्ति उपलब्ध हो सकी है वो ध्यान विज्ञान है इसलिए जैसे ही कोई आदमी परिपूर्ण जागरूक हो जाता है तो उसे ये पता नहीं चलता कि मैं जागरूक हूं उसे ये पता चलता है कि मैं आनंद से भर गया हूं वो जो पीछे की देह है आनंद काया वही झलकती है वही दिखाई पड़ती है ये पांचवी आनंद काया है लेकिन इसे भी ऋषि काया ही कहते हैं इसे भी आत्मा नहीं कहते ये भी काया है ऋषि कहते हैं आनंद भी काया है इस संबंध में दो तीन बातें ख्याल ले लें तभी समझ में आ सके एक जैसा मैंने आपसे कहा चौथी काया शुद्धतम है लेकिन चौथी काया अशुद्ध हो सकती है शुद्धतम अशुद्ध हो सकती है अशुद्ध है जैसी हमारे पास है बिल्कुल अशुद्ध है ध्यान से शुद्ध होती है समाज से अशुद्ध होती है ध्यान से शुद्ध होती है होश से शुद्ध होती है बेहोशी से अशुद्ध होती है इसलिए जितने इंटॉक्सिकेंट हैं वो मूलतः विज्ञान काया को नुकसान पहुंचाते हैं और किसी काया को पहुंचाते हैं वो बिल्कुल दूसरी बात है और ये भी हो सकता है दूसरी काया को लाभ भी पहुंचा सके लेकिन विज्ञान काया को नुकसान ही पहुंचाते हो सकता है शरीर को लाभ भी पहुंचा सके अल्कोहल एक मात्रा में लाभ पहुंचा सकती है और ये भी हो सकता है और होता है कि अल्कोहल लेने पर आपकी प्राण ऊर्जा जो है बहुत त्वरा से प्रकट होती है इसलिए अक्सर जो रस का अनुभव होता है कि कोई ताकत दौड़ गई वो अनुभव आपको प्राण ऊर्जा में होता है विचार को भी लाभ पहुंचा सकती है किसी अर्थ में इसलिए जो लोग विचार से ही जीते हैं कवि हैं लेखक हैं चित्रकार हैं मूर्तिकार हैं जो विचार को ही आकृति देकर जीते हैं अक्सर शराब उन्हें हित कर मालूम पड़ती है एक मात्रा में लाभ शायद पहुंचा सकती है लेकिन चौथा शरीर को निश्चित रूप से हानि पहुंचाती किसी हालत में लाभ नहीं पहुंचाती क्योंकि चौथे शरीर के लिए मूर्छा ही अशुद्धि है और होश ही शुद्धि है किसी भी भांति की मूर्छा नुकसान पहुंचाती चौथा शरीर शुद्धतम हो सकता है लेकिन अशुद्ध भी हो सकता है वो उसकी दोनों संभावना है पांचवें शरीर की एक खूबी है कि वो शुद्धतम ही है वो अशुद्ध हो ही नहीं सकता इसलिए आनंद के विपरीत हमारे पास कोई भी शब्द नहीं सुख के विपरीत दुख है शांति के विपरीत अशांति है प्रेम के विपरीत घृणा है चैतन्य के विपरीत मूर्छा है लेकिन आनंद के विपरीत हमारे पास कोई भी शब्द नहीं है आनंद अकेला शब्द है जिस जिसका विपरीत शब्द हमारे पास नहीं और अगर कोई कहे निरानंद तो वो केवल अभाव का सूचक है विपरीत का सूचक नहीं है निरानंद कोई स्थिति नहीं है आनंद का अभाव निरानंद का कोई रूप नहीं है निरानंद का कोई स्थान नहीं अस्तित्व नहीं है आनंद के विपरीत कोई ऊर्जा नहीं है इसलिए पांचवा जो शरीर है वो शुद्ध ही है और इसलिए पांचवें शरीर के साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं चौथे के साथ कुछ किया कि पांचवा उपलब्ध हो जाता है पांचवा सदा मौजूद है और इसलिए प्रत्येक आदमी को ऐसा लगता है कि आनंद हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है आनंद मिलना ही चाहिए इसलिए हम आनंद को खोजते हैं कोई नहीं पूछता कि क्यों खोजते हो आनंद को आनंद की क्या जरूरत किस लिए खोजते हो और सब खोज पूछी जा सकती है किस लिए आनंद भरे खोज है जिसके लिए किस लिए पूछना बिल्कुल व्यर्थ मालूम पड़ता है अगर आप मेरे पास आते हैं तो लोग मुझसे पूछते हैं आके ईश्वर को किस लिए खोज सत्य को किस लिए खोज जीवन का उद्देश्य क्या है लेकिन कोई मुझसे आके नहीं पूछता आनंद को किस लिए खोज आनंद का उद्देश्य क्या है आनंद स्वीकृत है इसलिए अगर ईश्वर को भी खोजना है तो आदमी आनंद के लिए ही खोजता है और किसी लिए नहीं सत्य को भी खोजना है तो आनंद के लिए ही खोजता है अगर आपको पक्का भरोसा दिया दिया जाए कि सत्य पा के आनंद बिल्कुल न मिलेगा परम दुख में डूब जाएंगे तो आप सत्य को खोजना फौरन बंद कर दे ऐसी खोज से क्या लेना दे निश्चय ने सवाल उठाया है और निश्चय कभी कभी बहुत गहरे सवाल उठाता है जिनके जवाब देने में किसी बुद्ध को भी अड़चन पड़ जाए मुझसे कहता है कि अगर आनंद ही जीवन का लक्ष्य है और असत्य से आनंद मिलता हो तो असत्य में बुराई क्या है अगर आनंद ही जीवन का लक्ष्य है और अगर स्वप्न में ही आनंद मिलता हो तो सत्य की खोज की जरूरत क्या है अगर आनंद ही जीवन का लक्ष्य है तो छोड़ो ब्रह्म को अगर माया में ही आनंद मिलता है तो चिंता क्या है एक बात तय कर लो कि अगर आनंद ही जीवन का लक्ष्य है डरता है नीतिशास्त्री धर्मशास्त्री निश्चय को उत्तर देने कि क्या उत्तर दे और निश्चय कहता है क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि सत्य दुख न लाएगा कैसे तुमने निश्चय किया है कि सत्य दुख न लाएगा क्योंकि निश्चय कहता अनुभव तो यह है कि सत्य बड़ा कड़वा होता बड़ा दुख देता है क्या तुमने पक्का ही कर लिया है कि कल्पना दुखी लाती है अनुभव तो यह है कि कल्पना बड़ी सुखद हो जाती है और क्यों पीछे पड़े हो लोगों के क्यों उनके सपने तोड़ो क्योंकि सपने सुखद भी और सुंदर भी तो होते हाँ दुखद स्वप्न भी होते हैं नाइट मेयर भी होते हैं इतना ही करो कि दुखद स्वप्नों से छुटकारा हो जाए और सुखद स्वप्न शाश्वत हो जाए कभी ना टूटे तो फिर और क्या खोज की जरूरत है धर्मशास्त्री को कठिनाई पड़ती है धर्मशास्त्री को धर्मज्ञ को नहीं क्योंकि धर्मज्ञ ये कहता है कि सपना है ही वही जिसे शाश्वत नहीं किया जा सकता धर्मज्ञ कहता ही यही है कि जिसमें तुम्हें सुख मिलता है वो मिलता ही इसीलिए है कि उसमें दुख भी मिलता है नहीं तो सुख नहीं मिलेगा धर्मज्ञ कहता है कि असत्य में भी अगर तुम्हें कभी सुख मिलता है तो वो इसीलिए मिलता है कि असत्य सत्य होने का धोखा देता है नहीं तो नहीं मिलता अगर असत्य में भी कभी सुख मिलने की झलक आती है तो वो केवल इस वजह से आती है कि असत्य भी सत्य होने का दावा करता है इसलिए कोई असत्यवादी असत्यवादी होने का दावा नहीं करता दावा सदा सत्यवादी होने का ही करता है सच तो यह है कि असत्यवादी ही सत्यवादी होने का दावा करता है सत्यवादी को दावे की कोई जरूरत नहीं होती असत्य को भी चलना है तो सत्य के पैर उधार लेने पड़ते हैं स्वप्न को भी जीना है तो स्वप्न को भी भ्रम देना पड़ता है कि स्वप्न नहीं हूं मैं नहीं सकती हूं तो ही जी सकता है आनंद सुख नहीं है क्योंकि सुख के साथ दुख अनिवार्य बंधा है आनंद स्वप्न नहीं है क्योंकि स्वप्न के साथ स्वप्न भंग अनिवार्य है वो आनंद नहीं है क्योंकि आनंद के विपरीत कुछ भी नहीं जो आनंद को भंग कर सके आनंद जो है अद्वैत अकेला है और आनंद की खोज इसलिए है कि वह हमारी परम देह फिर भी देह यही खूबी है ऋषियों की खोज इतनी सूक्ष्म है कि जिसका कोई हिसाब नहीं इस आनंद को भी वे कहते हैं ये भी दे क्यों क्योंकि वे कहते हैं जब तक तुम्हें ये भी पता चलता है कि आनंद है तब तक तुम अभी उसको नहीं पाए जो पाने योग्य क्योंकि जब तक पता चलता है तब तक द्वैत मौजूद है अभी पता चलने वाला अलग है और जो पता चल रहा है आप कहते हैं बड़ा आनंद आ रहा है तो दो बातें साफ हैं कि कोई है जिसे आ रहा है और कुछ है जो आ रहा है तो ये आनंद भी आपके आसपास का एक घेरा है और इसके केंद्र में अभी भी कोई खड़ा है जिसे पता चलता है कि आनंद आ रहा है जैसे ही ये जागरण भी आ जाए और ये जागरण पहले जागरण से बहुत सूक्ष्म और बहुत कठिन है हमने कहा विज्ञान में शरीर में ध्यान भोजन है होश आ जाए तो मन से छुटकारा हो जाए अगर आनंद में शरीर का भी होश आ जाए तो आनंद से भी अतिक्रमण हो जाता है और तब व्यक्ति उसे पा लेता है जो वो है वो सिद्धेह नहीं वो आत्मा है लेकिन मन के प्रति जागना बहुत आसान है मैंने कहा बहुत कठिन है लेकिन इस तुलना में बहुत आसान है लेकिन आनंद के प्रति जागने में एक भीतरी कठिनाई है कि आनंद से हम जागना ही नहीं चाहते इंट्रेंसिक डिफिकल्टी आनंद से हम जागना ही नहीं चाहते आनंद से कौन जागना चाहेगा आनंद की ही तो तलाश थी जीवन भर जन्मों जन्मों तक उसे कौन छोड़ना चाहेगा एक लोहे की जंजीर है आदमी छोड़ना चाहता है एक सोने की जंजीर है छोड़ने में भी मन नहीं होता कि छोड़े जंजीर ही नहीं मालूम पड़ती आभूषण मालूम पड़ता है हीरे जवारात लगे लेकिन ऋषि कहते हैं वो भी जंजीर है और ध्यान रहे लोहे की जंजीर उतनी बड़ी जंजीर नहीं जितनी बड़ी जंजीर हीरे जवारात लगी हुई सोने की जंजीर हो जाती क्योंकि अब कैदी खुद भी नहीं छोड़ना चाहता ये उसके जंजीर होने में गहरा और गहराई हो जाती आनंद काया आखिरी बात है इसलिए बुद्ध से जब लोग पूछते हैं कि निर्वाण में क्या होगा आनंद तो बचेगा ना बुद्ध कहते हैं तुम ही ना बचोगे तो आनंद कैसे बचेगा न तुम बचोगे ना आनंद बचेगा ये बहुत मजे की बात है आनंद को जानने के लिए द्वैत चाहिए भीतर कोई और आनंद अनुभव में आए सब अनुभव बाहरी है सब अनुभव experience as such is of the out is of the without the experiencer वो जो अनुभोक्ता है वो भीतर है लेकिन जब आनंद भी नहीं रह जाएगा तो क्या उसको हम अनुभोक्ता कहेंगे जब अनुभव ही ना बचा तो उसे अनुभोक्ता कहने में क्या सार है इसलिए बुद्ध कहते हैं दोनों खो जाएंगे होगा कुछ लेकिन तुम ना होगे होगा कुछ लेकिन आनंद भी ना होगा अगर आनंद काया शेष रह जाए व्यक्ति पैदा होता है परम मस्ती में लेकिन पैदा होता है जीवन का अंत नहीं आता पैदा होता है परम मस्ती में पैदा होता है जीवन उसका नृत्य होता है जीवन उसका आनंद ही आनंद होता है लेकिन फिर भी जीवन होता है आनंद काया टूटे तो ही निर्वाण है आनंद के प्रति कैसे जागे अभी तो हमें आनंद का कोई पता ही नहीं है जिसका पता ही नहीं उसे छोड़ने की बात समझनी बहुत मुश्किल पड़ेगी जो मिला ही नहीं उसे छोड़े कैसे ये किसी भिखारी को कहना है कि तू तू सिंहासन छोड़ दे बिल्कुल त्याग कर दे बड़ा अच्छा होगा वो भिखारी कहेगा कि वो सिंहासन कहाँ है जिसे मैं छोड़ दू और छोड़ने की बात पीछे कर लेंगे पहले उसका जरा पता मुझे बता दे वो है कहा पहले मैं उस पर हो तो जाऊं उस पर बैठ तो जाऊं लेकिन ये पहले ही छोड़ने की बात एक अर्थ में उपयोगी है क्योंकि ये ख्याल बना रहे सिंहासन पाने के पहले ही कि उसे भी छोड़ देना है तो शायद सिंहासन निद्रा सम्मोहन न बन पाए शायद ये ख्याल बना रहे इसे भी छोड़ देना सूफी फकीर हुआ है बाजीद वो अपने शिष्यों को कहता था एक मंत्र सदा याद रखना जो भी अनुभव तुम्हें हो ख्याल रखना इसे भी छोड़ देना जो भी तो बाजीत के एक शिष्य हसन ने बाजीत से पूछा अगर परमात्मा का अनुभव हो तो बाजीत ने कहा उसे भी तुम स्मरण रखना कि छोड़ देना तुम उस समय तक छोड़ते ही चले जाना जब तक कि छोड़ने को कुछ भी बचे वहीं रुकना जहां छोड़ने को कुछ ना बचे क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं वही परमात्मा है जहां छोड़ने को कुछ भी ना बचे उसके पहले सब परमात्मा वगैरह तुम्हारे ही बनाए हुए होंगे तुम उनको छोड़ते चले जाना जब तक अनुभव है तब तक संसार है कैसा भी अनुभव सूक्ष्मतम अनुभव संसार है आनंद का अनुभव भी संसार है इसलिए ऋषि ने बहुत अद्भुत वचन उपयोग किए और कभी कभी कभी बहुत चकित हो जाता है मन इतने हिम्मतवर लोग रहे होंगे और इन हिम्मतवर लोगों ने ऐसी क्रांतिकारी बातें कही और इनके आसपास अद्भुत घटना घटी के बड़े गैर क्रांतिकारी लोग इकट्ठे हो गए और ऐसा लगता है कि वो समझ भी नहीं पाते होंगे इसमें कहा है इन चार कोषों के साथ आत्मा बरगद के बीज में वृक्ष की तरह अपने कारण स्वरूप अज्ञान में रहती है this two is ignorance and the basic ignorance कारण स्वरूप अज्ञान द फाउंडेशनल इग्नोरेंस और उस कारण स्वरूप अज्ञान को आनंद में कोष कहते हैं द बेसिक इग्नोरेंस कहा है इसको जैसे कि बरगद का वृक्ष बीज में छिपा हो और जब तक बीज न टूटे तब तक बरगद का वृक्ष पैदा ना हो ऐसे ही आत्मा के पास जो सबसे पहली परत है सबसे गहरी और आत्मा के सबसे निकट वो परत है आनंद में कोष की लेकिन अद्भुत लोग हैं वो कहते हैं अपने कारण स्वरूप अज्ञान में रहती है उसे आनंद में कोष कहते हैं वो जो आनंद में कोष है वो आत्मा की खोल है जैसे बीज और जब तक आनंद न टूटे तब तक वो उपलब्ध नहीं होती क्योंकि जब तक बीज न टूटे तब तक कहा है वृक्ष तो जिन्होंने समझा है ऐसा सदा कि भारत के मनीषी आनंद की ही तलाश कर रहे हैं उन्होंने बड़ा गलत समझा भारत के मनीषी उस स्थिति की तलाश कर रहे हैं जहां आनंद भी दो कोड़ी की तरफ फेंक दिया जाता है उस अवस्था की खोज है जहां आनंद भी गैर जरूरी हो जाता है जब तक आनंद भी जरूरी है तब तक आप जब तक आनंद भी आकांक्षा है और जब तक आनंद भी रस देता है तब तक दरिद्रता जारी है सम्राट तो वही है जो आनंद को भी ऐसे छोड़ देता है जैसे बीच अपनी खोल को छोड़ देता है ये पांच कोष the fifth body is is known as the bliss body. This is the last, the innermost body, but is still the body. When the fourth body is purified, when the fourth body becomes just transparency the fifth is realized because the fourth becomes so transparent then the fifth is felt directly that's why when you are in deep meditation you don't feel meditation you feel bliss When you are deep in meditation, when you are deep in awareness, you don't feel awareness, you feel bliss. Really, when you begin to feel bliss, that means now you have begun to be aware. Awareness creates the situation in which bliss is felt. Awareness creates the transparency of the fourth body and the fifth is seen. The fourth becomes so transparent that not only you can see through it, you can pass through it without any resistance. It is just a door. It is just an opening. This fifth body is bliss body. This bliss is already there. This bliss is already there. It is not to be found somewhere else. It is not to be achieved. It is there only to be discovered. And you discover it by purifying the fourth body. But this too is just a body and has to be transcended. Bliss also bliss also is to be transcended. One has to go beyond. Because if you cannot go beyond bliss, you are still off the center. Because bliss is still an experience. And the experiences, the experiencers is still beyond. So whatsoever you can feel will belong to somebody, this or that. All experiences belong to these five bodies. And when there is no experience, and only the experiencer remains, when there is no known object, only the knower remains when there is nothing to be witnessed but only the witness is then you are centered in yourself then you are otherwise you belong to this body or that this is not a body this is the original nature this is the existential source of all being. Two or three things more. When you transcend bliss body, you transcend individuality also. When you transcend bliss body, you transcend life and death also. Because all life and death is a phenomena which exists only in the bodies and in relation to the bodies. When there is no body, you cannot die and you cannot be reborn. So once one becomes aware of the no body existence of the center, then there is no death and no life. Then you are existence itself. Then there is no individuality then you are not. Simply the being is. All form and all name is lost. Meditation is the method to purify the fourth. Then what to do with the fifth? how to transcend it how to transcend bliss itself it is difficult to understand because we don't know bliss at all so how to transcend is irrelevant first one has to know and the moment you know, you will know the key to transcend it. The key is known very easily because this is the last body. With every body, it is difficult because again you face another body. Again you face another body so you transcend one body, but again you are rooted in another. For the first time when you reach near the bliss body, now the next behind, behind the bliss body is not a body now. Now you are near the very center of existence and it has a gravitation of its own. That gravitation is known as grace. You throw something and the gravitation pulls it down. Hmm? The earth pulls it down. But beyond 200 miles above earth, earth around earth, the gravitation cannot work. So the moment a spaceship passes 200 miles barrier, then the earth cannot pull it down. This is the, the boundary of earth's pull, 200 miles. Bill's body is just the boundary of the no body existence. And when you are on the bliss body, you are in the pulse. Now there begins to work a new gravitation. That gravitation is known as grace. That's why those who achieve the beyond state of all bodies say, this is not by our effort that we have reached it, but God and his grace. Really, with the fifth, nothing is to be done in a way. You have only to reach to the fifth. That reaching itself is the doing. Reach the fifth and you will be pulled. The reaching itself to the fifth is in a way transcendence पांचवें पर खड़े हो जाना ही अतिक्रमण है क्योंकि पांचवें पर जैसे ही आप खड़े हो गए वैसे ही आप परमात्मा के इतने निकट हैं कि आप खींच लिए जाते नहीं कुछ करना नहीं होता ठीक ऐसे ही होता जैसे पानी में एक भवर पड़ रहा है और आपने फूल पानी में तैरा दिया वो तैरता रह सकता है लेकिन भवर के पास पहुंचा पास पहुंचा पास पहुंचा और भवर की पहली पर भी उसने छी कि खींच लिया गया गया भीतर और डूब गया पांचवें शरीर तक पहुंचने में मनुष्य का प्रयास जरूरी है पांचवे के पार होने में प्रयास की कोई जरूरत नहीं है और इसलिए जिसने पांच के प्रयास करते वक्त भी स्मरण रखा कि प्रभु की अनुकंपा और उसकी दया और उसकी कृपा और उसकी करुणा ही खींच लेगी वो जब पांचवे पे पहुंचेगा तब ये बात काम करेगी लेकिन अगर कोई आदमी इन पांच की कोशिश में ये भूल के चला कि मैं ही कर लूंगा मैं ही कर लूंगा मैं ही कर लूंगा तो एक तो पांचवे तक पहुंचना मुश्किल और ये भी हो सकता है कि वो पांचवे तक खड़े होकर इस अकल में खड़ा रहे क्योंकि वो कहे कि मैंने ही किया है तो मैं पांचवे को भी छलांग लगा लूंगा जब मैं इतने तक चला आया तो क्या जरूरत है प्रभु की अनुकंपा की तो हो सकता है कि वो बिल्कुल किनारे पर ही खड़ा रहे और ग्रेविटेशन काम ना कर पाए वो वो कशिश काम ना कर पाए क्योंकि उस कशिश के काम करने के लिए आपकी ग्राहकता अनिवार्य अंग है आप तैयार होने चाहिए खींचे जाने को तो ही वो कशिश काम कर पाती इसलिए उसको हमने कशिश नहीं कहा प्रसाद कहा उसके कारण है क्योंकि कशिश बिल्कुल यांत्रिक बात है आकर्षण बिल्कुल यांत्रिक बात है चुंबक तैयार ना भी हो तो बड़ा चुंबक उसे खींच लेगा ये कोई इसकी तैयारी की जरूरत नहीं है और पत्थर ना भी गिरना चाहता हो नीचे आप फेंकें तो भी जमीन खींच लेगी प्रसाद हमने इसीलिए कहा कि यांत्रिक घटना नहीं है इस प्रसाद को लेने की तैयारी भी चाहिए हाथ फैले हुए चाहिए तो ये प्रसाद उपलब्ध हो सकता है प्रसाद का बोध ही कुंजी है पांचवें शरीर से छठवे में जाने की शरीर के बाहर जाने की अशरीर में जाने की आज इतना ही अब हम कोशिश करें पांच तक पहुंचने की और प्रभु की कृपा को ख्याल रखें हो सकता है कशिश के घेरे के भीतर पड़ जाएं और खींच लिए जाएं जो लोग तेजी से करने वाले हैं वो ऊपर आ जाएं जिन्हें आहिस्ता थोड़ा करना हो वो नीचे किनारों पर खड़े हो जाएं ऊपर कोई भी सुस्त आदमी न खड़ा रहे थोड़ा भी धीमा करना हो तो नीचे के किनारों पर खड़े हो जाए